परम पिता परमात्मा का स्मरण न्यायकारी परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ ओ धन प्रेमी सज्जनों दिन भर हमें किस प्रकार का भाव रखना चाहिए परमात्मा के प्रति क्या दृष्टि रहे परमात्मा को हम कैसा स्वीकार करें उसके लिए आज एक और मंत्र विचार के लिए हमारे सामने है ये मंत्र यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का उन्नीसवां मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में चौतीसवां मंत्र है परमात्मा के लिए इस मंत्र में कुछ विशेषण दिए गए वो परमात्मा कैसा है वो परमात्मा केवल एक है वो देव केवल एक है और कैसा है उसको बताते हुए प्रारंभ किया विश्वतश्चक्षु उत विश्वतो मुखो वो परमात्मा सर्वत्र सब जगह चक्षु वाला है सब और जिसकी आंखें हैं आंखों का मतलब देखने की शक्ति जानने की शक्ति परमात्मा सब जगह उसी प्रकार देख रहा है जिस प्रकार से हम सामने वाली वस्तु को जानते हैं हम सामने वाली वस्तु को केवल सामने से जानते हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते लेकिन परमात्मा हर वस्तु को बिल्कुल समक्ष विद्यमान साक्षात जान रहा है इसलिए कहा विश्वतश चक्षु वो हमारे अंतकरणों को भी जान रहा है चक्षु शब्द यहां पर ज्ञानेन्द्रिय का सूचक है और चक्षु से ज्ञानेन्द्रियों के बाकी सभी विषयों का भी ग्रहण करता वो परमात्मा है ये हमें समझ लेना चाहिए वो सब और कान वाला है अर्थात श्रवण करने की शक्ति वाला है वो सब कुछ सुन रहा है वो सब कुछ देख रहा है सब कुछ सुन रहा है अर्थात सबको वो यथावत जान रहा है और कहा विश्व तो मुखो वो सब और मुख वाला भी है ये भौतिक मुख नहीं जैसा मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का होता है लेकिन मुख से हम बोलने का काम करते हैं बताने का काम करते हैं उपदेश का काम करते हैं परमात्मा का मुख सर्वत्र है अर्थात वो सब जगह उपदेश देता है इस पूरे संसार में पृथ्वी पर कहीं भी कोई जीव रहे परमात्मा का मुख सब जगह विद्यमान है परमात्मा का उपदेश उसे सब जगह प्राप्त हो सकता है परमात्मा अपना उपदेश लिए हुए सर्वत्र विद्यमान है हम कब कितना उपदेश उसका सुन पाते हैं ले पाते हैं ये एक अलग बात है लेकिन परमात्मा का मुख तो सर्वत्र है और आगे कहा विश्व तो बाहु उसकी बाहु भुजाएं ये भी सब जगह है बाहु धारण करने का काम करती है कर्म का काम करती है तो परमात्मा इस सारे संसार को धारण भी कर रहा है और जैसे बाहु से भुजाओं से हाथों से हम कर्म करते हैं ऐसे ही परमात्मा की वो शक्ति जिससे वो इन सबको करता है और ये दो शक्तियां दो हाथ परमात्मा का बल और पराक्रम जो कि आगे भी अगली पंक्ति में कहा तो परमात्मा सब जगह इस संसार को धारण कर रहा है महर्षि ने यहां पर सर्वधारक जो शब्द लिखा है वो बाहु के अर्थ को खोलता है आगे कहा उत विश्व तस्पात उस परमात्मा के पैर सब जगह हैं बहुत सारे पैर हैं वहां पैर का मतलब भी उसकी गति को बताता है अर्थात वो सब जगह पहुंचा हुआ है ये भौतिक पैर तो परमात्मा के नहीं होते लेकिन भौतिक पैरों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए वो हमारी तरह तो गमन नहीं करता है जाता नहीं है लेकिन जिस प्रकार हम पैर से गमन करके कहीं पहुंचते हैं किसी स्थान को प्राप्त करते हैं किसी के निकट जाते हैं इसी प्रकार परमात्मा अपने सर्वव्यापक गुण के कारण सब जगह पर प्राप्त है पहुंचा हुआ है सबके निकट है इस रूप में परमात्मा को विश्वतस्पात कहा गया है तो परमात्मा सब जगह देख रहा है और सब चीजों को देख रहा है महर्षि ने शब्द लिखा सर्वदृक और सर्ववक्ता वो सब कुछ कह सकता है जो ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है वो सब हमें देता है सर्वधारक है हाथों से धारण कर रहा है और सर्वगत सब जगह पहुंचा हुआ वो परमात्मा है और उस परमात्मा के बारे में बताया समबाहुभ्याम धमति संपतत्री द्यावा भूमि जनयन देव एक इस द्व्यूलोक को प्रकाशमान लोकों को और भूमि आदि लोकों को इन सबको उत्पन्न करता हुआ सदेव एक वो एक अकेला देव वो एक अकेला परमात्मा इस पृथ्वी को भी उसी ने बनाया और प्रकाशित करने वाले लोगों को भी उसी ने बनाया है और वो बनाने वाला देव है देने के स्वभाव वाला है दूसरों के हित के लिए उसने बनाया है तो इन सबको बना करके वो करता क्या है कसम बाहुभ्याम धमती बाहुभ्याम संधमती संपतत्रय ही द्यावा भूमि जनयन संजनयन इस द्यावा द्यूलोक को और पृथ्वीलोक को अच्छी प्रकार से बनाता हुआ अपनी बाहुओं से उन बाहुओं को महर्षि ने खोला है बल और पराक्रम उसके पास शक्ति है और वो अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ है स्वयं आगे होकर के उन कार्यों को करता है तो इस प्रकार से वो संतमति अच्छी प्रकार से इनको धारण करता है धमति जो है ये निरुक्त में गति कर्मा धातु है तो धमति का अर्थ प्राप्त होती किस तरह से किनके द्वारा तो कहा पतत्रयी पतत्रयी का मतलब जो गमनशील है परमाणु अर्थ भी किया जाता है जो गतिशील है सदा भाष्य में महर्षि ने परमाणु अर्थ किया है उनके द्वारा इस सब को बनाता हुआ और यहां पर गमनशील का अर्थ प्राप्त करने योग्य है धमती अर्थात होती किनको तो महर्षि ने लिखा प्राप्त होने वाले सुख दुख दोनों से प्राप्त सब जीवों को धमती यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है जो प्राप्त होने योग्य सुख और दुख हैं यानी धर्म और अधर्म के फल हमारे पाप और पुण्य के फल उनके द्वारा वो सब जीवों को विभिन्न जन्म मरण में धमती प्राप्त करा रहा है पहुंचा रहा है तो कल्याणकारी परमात्मा ने द्विलोक और पृथ्वीलोक को बनाया और हमारे पाप और पुण्य के अनुसार हमें विभिन्न जन्म प्रदान करता है ये एक अकेला परमात्मा है उस परमात्मा के लिए हम भावना रखें ये बात यहां कही महर्षि ने व्याख्या में एक बात लिखी कि ऐसा जो परमात्मा है सर्वदृक सर्ववक्ता सर्वधारक और सर्वगत ऐसा जो परमात्मा है उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा अन्यथा कभी नहीं डरने की बात किस लिए कही क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है और जो भी गलत कार्य करेगा पाप करेगा उसको कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में वो उसका फल देगा ये मनुष्य शरीर हमारा यदि हमने पाप किए हैं तो सदा नहीं रहने वाला है अन्य शरीरों में हमें जाना होगा तो उन शरीरों में जो प्रगति के अवसर नहीं है जो कष्ट है जो पराधीनता है जो अनिश्चितता है जो भय है उस सबको देखते हुए व्यक्ति परमात्मा से डरे और परमात्मा से डर के वो फिर धर्मात्मा बने जो व्यक्ति गलत कार्यों में डरता नहीं है उसे दंड नहीं दिखाई देता है तो तो गलत कार्य करेगा क्योंकि गलत कार्यों में आसानी से व्यक्ति दूसरों का धन प्राप्त कर लेता है सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है मेहनत नहीं पड़ती है इसलिए उसे वो सरल मार्ग प्रतीत होता है और वो उसी तरफ बढ़ जाता है लेकिन जो इन दंडों को देखता है और डरता है तो वर्तमान की थोड़ी सुविधा के लिए दूसरे की चोरी नहीं करेगा दूसरे को दुख नहीं देगा वो कष्ट सह करके भी धर्म पूर्वक धन का अर्जन करेगा धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा धर्म पूर्वक व्यवहार करेगा तो इन कष्टों को पुरुषार्थ के कष्ट को व्यक्ति तब सह पा सकता है जब वो अधर्म से होने वाली हानि को इस कष्ट से बड़ा देख रहा हूं अधिक देख रहा हूं जिस व्यक्ति के मन में यह बैठा हुआ है कि दंड तो बहुत थोड़ा सा है उसको सहन कर लेंगे और ये अन्याय अत्याचार करके सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे ये सरल है उस थोड़े से कष्ट को पाने की बजाय इन चीजों को कमाने के लिए प्रयत्न करना या सुख से वंचित रहना सुख साधनों से वंचित रहना यह अधिक कष्टप्रद है ऐसा मान करके जो चल रहा है वो अधर्म को करता रहेगा जो भावी दुख को देख रहा है इस रूप में डर रहा है वो व्यक्ति ही धर्मात्मा बन सकता है परमात्मा से डरने की बात अधार्मिकों के लिए है धार्मिक व्यक्ति समझदार व्यक्ति परमात्मा से भी नहीं डरेगा क्योंकि एक अगला स्तर है जो अगली पंक्ति में महर्षि ने लिखा कि जिस जिसने जैसा जैसा पाप या पुण्य किया है उस उसको न्यायकारी दयालु जगत पिता पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम से और उनको फल प्रदान करता है ये एक आर्य के मन में सज्जन बन चुके मन में व्यक्ति के मन में क्या बात है कि परमात्मा को न्यायकारी तो मानता है कि वो दंड देगा लेकिन साथ में विशेषण जोड़ा है दयालु भी है वो और जो दयालु हो उससे नहीं डरेगा व्यक्ति और जिसने गलत कार्य नहीं किए हैं वो परमात्मा से कभी नहीं डरेगा दयालु और जगत पिता है पालक है और वो पक्षपात छोड़ करके फल देता है इसलिए परमात्मा से कैसे डर हो सकता है धार्मिक व्यक्ति जिन्होंने अपने जन्म में इस जन्म में या पहले भी कुछ बुरे कर्म किए हैं उनके फल के प्रति भी बिल्कुल नहीं डरता है क्योंकि उसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है वो न्यायकारी है जितनी मैंने गलती की है वो मेरे सुधार के लिए दंड देगा और उसमें तो मेरा ही भला है तो परमात्मा से डरूं क्यों मैं जो व्यक्ति इस स्तर पर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा से कभी नहीं डरेगा डर तो उससे होता है जो अन्यायकारी हो डर तो उससे होता है जो क्रूर हो दयालु ना हो डर उससे होता है जो हमारा रक्षक ना हो डर उससे होता है जो पक्षपात से युक्त होता है जब परमात्मा में ये सब है ही नहीं तो जो परमात्मा को इस प्रकार ठीक ठीक जानता है वो परमात्मा से कभी नहीं डरेगा लेकिन एक सामान्य जनता जो परमात्मा को इस रूप में नहीं देख पाती है और जिसे संसार के विभिन्न योनियों के दुख पराधीनता बड़े कष्ट दिखाई देते हैं उसमें अपना सुधार दिखाई नहीं देता तो उनको प्रारंभिक लोगों को तो डर करके ही अधर्म से हटना होता है उनके लिए वही उपाय है और धार्मिक व्यक्ति भी परमात्मा से इस रूप में डरेगा कि यदि मैं गलत करूंगा तो भविष्य में मुझे दंड तो मिलेगा और वो मेरा अवसर छिनेगा मनुष्य जन्म छिन जाएगा बहुत सा दुख होगा भय होगा इन भावी दुखों को देख करके वो उससे बचता है वास्तव में नहीं डरता है भावी आशंका को देख करके भावी हानि को देख करके वो डरता है लेकिन वर्तमान में नहीं डरता है और जो कर्म किए हैं उनके लिए भी नहीं डरता है बुरे कर्मों के लिए भी नहीं डरता है तो दोनों बातें दोनों दृष्टियों से ठीक है कि जब हम परमात्मा को इस प्रकार मानेंगे तभी धार्मिक बन पाएंगे जो परमात्मा को सर्वद्रिक नहीं मानता है विश्वत चक्षु नहीं मानता है अर्थात वही सोचता है परमात्मा कहीं एक जगह पे है और हमें तो देख ही नहीं रहा है तो जैसे हम किसी मनुष्य के न दिखने पर किसी मनुष्य के सामने न होने पर हम कुछ गलत कार्य भी कर लेते हैं लेकिन यदि सब बैठे हों सब देख रहे हों तो हम गलत कार्य नहीं करते एक सामान्य प्रवृत्ति है ऐसी तो इसी प्रकार से जो परमात्मा को एक देशी मानते हैं और परमात्मा सब जगह देख रहा है ये नहीं जानते और पढ़ भी लिया है जान भी लिया है लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं है कि परमात्मा मुझे सदा देख रहा है ये स्मरण नहीं जिसको रहता है वो गलत कार्य कर लेगा और जो धर्मात्मा धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है उसे उपदेश भी चाहिए वो ज्ञान भी चाहता है लेकिन वो मनुष्यों पर अधिक आश्रित हो गया है और मनुष्यों के नष्ट होने पर उसे ये प्रतीत होने लगता है कि अब मेरे को ज्ञान कहां से मिलेगा अब मेरा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा मुझे कौन बताएगा वो व्यक्ति भी डर में रहेगा मनुष्यों से हमें ज्ञान मिलता है ये ठीक है लेकिन परमात्मा भी सर्वतोमुख है सब जगह विद्यमान है दुनिया के सारे व्यक्ति हमारे विरुद्ध हो जाएं, सब आधार्मिक हो जाएं, लेकिन हमें अगर धर्म पर चलना है और हम जिस स्थिति में उसको बताने वाला कोई मिले नहीं हमें और उसको पूछने के लिए हम दर दर भटकते फिरें हो सकता है बहुत से व्यक्ति हों ऐसे जो हमारी सहायता कर सकते हो ज्ञान दे सकते हो लेकिन उनको ढूंढना भी तो आसान नहीं है कोई वर्षों जिंदगी लगा करके ढूंढता रहे तो भी ना मिले ऐसा भी हो सकता है अच्छे व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए लेकिन जब तक वो नहीं मिले तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते ये भावना ऐसी है कि परमात्मा को अस्वीकार करना है हम अच्छे व्यक्तियों को भी ढूंढेंगे मिलेंगे तो उनसे लाभ भी उठाएंगे वो प्रयत्न चलता रहे लेकिन मन के अंदर ये भी विश्वास रहे कि परमात्मा सर्वतोमुख है वो हर जगह उपदेश देने के लिए उद्यत है केवल मुझे ही तो पवित्र होना है मुझे ही तो उसके प्रति ग्राह्य होना है मुझे उसे ग्रहण करना है तो परमात्मा पे विश्वास करके जो चलता है उसे कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरे को कोई उपदेश देने वाला नहीं है वो स्वयं को ठीक करेगा स्वयं की आशंकाओं को हटाएगा स्वयं के स्वयं के डर को हटाएगा स्वयं के स्वयं के मिथ्या ज्ञान को हटाएगा और परमात्मा से ज्ञान की सदैव प्रार्थना करेगा शांत बैठेगा और परमात्मा का निर्देश उसको अंदर से मिलेगा उसे परमात्मा पे विश्वास है उसे वेदवाणी पर विश्वास है कि परमात्मा सर्वतोमुख है और ऐसा करते हुए वो निरपेक्ष हो जाता है उसे आशंका नहीं रहती और विश्व तो बाहु परमात्मा धारण करने वाला है रक्षा करने वाला है तो जिन व्यक्तियों को मनुष्य ही धारण करने वाले दिखाई देते हैं उसको डर रहेगा कि ये व्यक्ति नहीं रहेंगे तब क्या होगा मेरा मैं अकेला हुआ तो क्या होगा लेकिन आर्य के मन में क्या भाव रहे वो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सब जगह तुमको धारण कर रहा हूं तो मन में प्रश्न उठेगा कि मैं जा रहा हूं और चोट लग गई मुझे मैं गिर पड़ा अकेला हूं खून बहने लग गया कोई पट्टी करने वाला नहीं है मैं मूर्छित हो गया हूं मेरे को कोई चिकित्सालय पहुंचाने वाला नहीं है तो क्या परमात्मा आके ये सब कर देगा परमात्मा धारण कर लेगा परमात्मा इस तरह कभी धारण नहीं करेगा लेकिन अगर उन स्थितियों में हमारी मृत्यु भी हो जाती है हमारा कोई अंग भंग भी हो जाता है किसी ने हमें गिरा दिया हमारा ऐसा हो गया फिर कोई उठाने वाला नहीं है और हमारी वही मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो भी परमात्मा धारण करने वाला है ये विश्वास आर्य को रहता है क्योंकि ये शरीर छूट गया उससे क्या फर्क पड़ा है हमारे जो कर्म है वो अभी भी विद्यमान है उन कर्मों का फल परमात्मा फिर दे देगा परमात्मा सर्वशक्तिमान है फिर से मनुष्य जन्म दे देगा फिर से हमारे को उचित शरीर प्रदान करेगा उचित सामर्थ्य उचित इंद्रियां प्रदान करेगा डर किस बात का है पर जो व्यक्ति इस शरीर को ही सब कुछ मानता है और परमात्मा की शक्ति और परमात्मा की बाहु धारण शक्ति को वो स्वीकार नहीं करता है उसे सतत भय रहेगा दूसरा अन्याय करके मेरे हाथ पैर काट देगा तो क्या हो जाएगा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर अकेले में कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा इत्यादि आशंकाएं उस व्यक्ति के मन में रहती है होता धार्मिक है परमात्मा को एक अंश में स्वीकार भी करता है धर्म के मार्ग पर चलता भी है योग साधना करना चाहता है लेकिन परमात्मा को पूरी तरह न जानने के कारण से हमेशा भयग्रस्त रहता है और इस भयग्रस्त होने के कारण से अनेक समझौते करेगा वो अनेक जगह बंधेगा तो परमात्मा हमें उपदेश दे रहा है वेद मंत्र के माध्यम से भी दे रहा है कि सर्वतो मुख और सर्वतो बाहु विश्वतः चक्षु विश्वतो मुख और विश्वतः बाहु परमात्मा हमारे को धारण भी कर रहा है ये विश्वास व्यक्ति के मन में जगना और पूरा पक्का हो जाना एक बहुत बड़ी सफलता है नहीं तो ये धर्म का मार्ग या योग का मार्ग बाधित होता रहेगा सब कुछ समझ रखा है चल भी रहा है लेकिन भय आशंका से वो जीता ही रहेगा क्योंकि ईश्वर पर पूरा विश्वास नहीं है और वो व्यक्ति पूरी तरह मुक्ति को पा भी नहीं सकता शीघ्र पा भी नहीं सकता वो इन भय शंकाओं में ही लगा रहेगा उसके निवारण में ही इतना अधिक लगा रहेगा कि वो अधिक साधना नहीं कर पाएगा निश्चिंत नहीं हो पाएगा चिंतन नहीं कर पाएगा तो अपना पुरुषार्थ अवश्य हमें करना है जितना कर सकते हैं उसके बाद में निश्चिंत तो होकर के हम अपनी साधना को कर सकते हैं क्योंकि परमात्मा हमारे को धारण कर रहा है और सब जगह वो पहुंचा हुआ है न्यायपूर्वक हमारे सुख दुख को देता है हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करता है इसलिए महर्षि बहुत जोर देकर के लिखते हैं कि उसी निराकार अज अनंत सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिए परमात्मा को ठीक से मानेंगे तब ही जीवन सफल है वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्ट देव है उसी से सुख हमको होगा हमारी आशाएं अपेक्षाएं अन्यों से रहती हैं और अन्य एक अंश में हमारे को सुख देते हैं दुख भी देते हैं लेकिन अंततः जो हमें सुख मिलना है वो परमात्मा से ही मिलना है ये हमारे मन में विश्वास रहे उसी से हम सुख हमको होगा अन्य से कभी नहीं इन शब्दों को देख करके व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है कि अन्यों से हमें सुख मिलता है हमारा व्यवहार कहता है हम सुख प्राप्त भी करते हैं सुख देते भी हैं दूसरे को अनुकूलता करते हैं दूसरों के लिए दूसरे भी हमारे लिए अनुकूलता करते हैं व्यवस्थाएं करते हैं तो दूसरों से सुख कैसे नहीं होगा दूसरों से पूर्ण सुख पूर्ण निर्भयता पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सहयोग कभी नहीं मिल सकता जितने भी सहयोग करने वाले हैं वो एक अंश तक सहयोग करते हैं हम उनके अनुकूल हैं तब तक वो हमें सहयोग करते हैं और जितनी उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो हमें सहयोग करते हैं सदा नहीं कर सकते लेकिन हम उन्हीं पर निर्भर कर जाते हैं क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता और विचार से हम वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं ज्ञान के स्तर पर हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते तो इसलिए हम इन्हीं पर निर्भर रहते हैं मनुष्यों पर और उनसे कभी वो सुख वो निर्भयता जो हम चाहते हैं कभी नहीं मिल सकती इस दृष्टि से यहां पर कहा गया कि परमात्मा से ही सुख मिलेगा अन्य से कभी नहीं मिलेगा तो आर्यों के मन में ये भावना रहे मंत्र का देवता विश्वकर्मा है इस सृष्टि का रचयिता विभिन्न कर्मों को करने वाला और वो विभिन्न कर्म कैसे कर पाता है इन्हीं गुणों के कारण क्योंकि उसके नेत्र सब जगह हैं सब जगह वो उपदेश दे सकता है सब जगह वो धारण करता है और सब जगह पहुंचा हुआ है और इसका ऋषि है जो इस मंत्र का साक्षात्कार करेगा वो बनेगा भुवन पुत्रो विश्वकर्मा ऋषि पहले भी वो व्यक्ति भुवन पुत्र और विश्वकर्मा बने इस संसार को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले विविध क्रियाएं करने वाले निर्भय होके सब कर्म करने वाले और जो धारण करने वाली चीजें हैं उनके रक्षक भी वो बने क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस संसार की धारण करने वाली वस्तुओं की यदि मैं रक्षा करूंगा व्यक्तियों की वस्तुओं की ज्ञान की कर्मों की तो उससे मेरा पुण्य बनेगा और मैं परमात्मा की रक्षा में सदा रक्षित रहूंगा परमात्मा से मेरे को कभी भी अन्य शरीर नहीं प्राप्त होंगे अच्छा ही अच्छा होगा और मैं मुक्ति को भी प्राप्त करूंगा तो इस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भुवन पुत्र विश्वकर्मा बन जाएगा कोई भी मनुष्य इस तरह का ऋषि बन सकता है अमोल जी तो जी हाँ एक हाँ दो टुकड़े कागज के होंगे परमात्मा के नहीं होंगे परमात्मा इसमें है इसका ये मतलब नहीं ठीक है तो डूबा हुआ, हुआ है बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये परमात्मा में डूबा हुआ है देखिए अगर आप ऐसा माने कि कागज में परमात्मा है और उतना ही है पर कागज के साथ ही एक रूप हुआ हुआ है तब तो कागज को फाड़ने से वो फटेगा कागज भौतिक है परमात्मा भौतिक नहीं है कागज के अवयव हैं परमात्मा के अवयव नहीं है तो फट ही नहीं सकता हम्म। तो मतलब कागज नहीं हम परमात्मा के अंश नहीं हैं हम परमात्मा के हम अलग हैं और परमात्मा अलग है ये भी अलग है ठीक है देखो अलग का मतलब आप यू मत समझो कि जैसे ये पुस्तक अलग है अलग मतलब यहां रखी हुई है और ये अलग है यहां रखी हुई है ये अलग ये अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी है अलग का मतलब ये नहीं है क्योंकि जब आप ये कहोगे परमात्मा इस कागज से अलग है जैसा मैंने बोला तो आपका तत्काल ये वाक्य आया फिर तो परमात्मा इसमें नहीं है तो इन आपने अलग अलग का अर्थ क्या समझा कि ये इधर और ये इधर ऐसे अलग नहीं इसके अंदर रहता हुआ भी जैसे इस वातावरण में हवा है अभी हवा है और प्रकाश भी है तो हवा को हटा देंगे तो प्रकाश भी हट जाएगा यहां से क्यों अलग अलग है मतलब कि प्रकाश उस कोने में है और हवा इस कोने में है मिक्स है लेकिन अलग अलग मतलब प्रकाश अलग तत्व है और हवा अलग तत्व है ऐसे ही इस कागज में पुस्तक में परमात्मा है इसके अंदर ही है यू देश की दृष्टि से अलग नहीं है वो कणकण में है लेकिन वो ये पुस्तक नहीं है ये जड़ नहीं है ये तो जड़ है इसको बोध नहीं होता है सुख दुख संवेदना नहीं होती है जानते नहीं है परमात्मा चेतन है जानता है आनंद से युक्त है हाँ हमेशा रहता है कभी नहीं होता है हो ही नहीं सकता वो अलग नहीं अलग हो इनका अलग है ना अस्तित्व इन सब चीजों का ये अलग वस्तु है अलग मतलब भिन्न है स्थान नहीं भिन्न है परमात्मा सब जगह रहता हुआ भी यहां पर विद्यमान है और किन्हीं को कुछ पूछना है प्रणोतनी ओ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरो ओषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्व शान्तिः शांतिरव शांति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः